परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया छह दिन में सृष्टि रचकर सातवें दिन विश्राम किया कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है वो परमात्मा कबीर है जिसने छह दिन में सृष्टि रची तथा सातवें दिन तख्त पर जा विराजा उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन छोड़ मारत तो की सिद्धि है जो दिन रात जागने की और वस्तु कुछ नहीं है जैसे पहले उदाहरण दिया था कि एक भक्ति ने एक भक्त ने आकाश में जल प्रचालन की सिद्धि कर ली वो आगे बताएंगे एक सिद्धि सेवक हो आगे पहला आप सुना करते ऐसे सद हुआ करते उड़द बिला बोरी मंगवा दी उसने ज्वार बाजरा की यह कोई बड़ी बात नहीं है हनुमान जी के पास सिद्धि थी कि इतने वजन ने ठा कर ले आए कोई इसमें मैं तो मतलब खास बात नहीं एक सिद्धि सारे ब्रह्मंड ने भी सरकारी है पृथ्वी ने भी घुमावे और फिर चौकर दे कभी घुमा के लावे यह भी एक सिद्धि है या घड़ी चाल रही है अभी सिद्धि है आप तो नहीं चाल रही है तो इस प्रकार इन तक कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं है एक सिद्धि स्वर्गापुर जावे एक सिद्धि जो सब गट छावे एक सिद्धि सब सागर पीवे एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे अगस्त ऋषि के अंदर बतावा है इतनी सिद्धि थी कि एक गुट में सारे सागर ने पी लिया था तो बंदी छोड़ महाराज कहीं ये भी कोई खास बात नहीं और जनों को एक ने पी लेने उससे गे लो लाम तो तो हम उन्हीं को पूर्ण संत और परमात्मा प्राप्त युक्त जो है शक्ति युक्त मान लेते हैं एक सिद्धिर बहुत युग जीव है जैसे नौ योगेश्वर ने सिद्धि प्राप्त कर रखी है कि चारों युग तक रह लेंगे फिर क्या हो जाएगा भी आखिर में इंद्र की कहते हैं बेहतर चौकड़ी राज करता है बहुत बेहतर चौकड़ी उम्र है अब देख लो कई युग हो गए बेहतर को चार तो गुणा करो चार दुनिया आठ चार सत्य अठाई दो से अठासी युग तक इंद्र रह फिर गदा बने ये लिख रखा बंदी छोड़ना खुद मानता है इंद्र कि भाई मैं फिर गदा की जीऊंगा बेहतर और उसकी जो रानी है पटरानी वह जो है ऐसे ऐसे चौदह इंद्र भोगेगी और उसके बाद गदी बनेगी और बताओ भाई छोटे मोटे साधक और सिद्धि प्राप्त बंदी छोड़ने कैसे ये जाएंगे कहा ये शास्त्र प्रमाण दे फिर नुपट देवी को नहीं फिर हम वो गुआर बो का बैठ जाएंगे आगे धोखे में तो गलती से विरा एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई एक सिद्धि पर एक सिद्धि आकाश एक सिद्धि जो उड़े आकाशा एक सिद्धि पर लोके वासा एक सिद्धि आकाश में उड़ जाना एक सीधी कष्ट तारा एक सीधी तनहंस नियारा एक सीधी ऐसी होती है जो शरीर के कष्ट न खत्म कर सकती है किसी का रोग हो और उसका वो एक के साधना कर सके सारी उम्र में साधक तो तो किसी का जा एक बात मार दिया राख दे दी ठा गया ठीक हो गया ये भी कोई खास बात नहीं अब आगे बताओगे आपको हम एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा आपने देखा होगा शरीर न छोड़कर प्रमाण सुने होंगे कि एक योगी था अपने शरीर न छोड़कर दूसरा शरीर से बाहर घूमे आ करता था फिर प्रवेश कर जाता था ऐसा जयतराम जीओ के बारे में भी लिखा हुआ है जो कि महाराज गरीबदास जी के पुत्र हुए सबसे बड़े और वो फिर सिद्ध सिद्धिकरण लाग गए तो वो सिद्ध को आए तो उन्होंने जो साधना की वो गरीबदास महाराज के अनुसार पूर्ण प्राप्ति का साधन नहीं था तुर्तीराम जो है उन्होंने अपना गुरु ज्ञा के अनुसार साधन की और मुक्ति पाई ना कदे तप में गए ना कि तब बण गए ना कोई ऐसे रचि रचनाएं तो उन अपनी मुक्ति का सीधा साधन जो कि हम कर रहे हैं ऐसे पा अब एक सिद्धि जो कष्ट जा रहा है ये एक सिद्धि होती है और हमारे पास बंदी छोड़कर इस नाम में सारी सिद्धि हो जाए जैसे आपको प्रमाण दिया था ना साधना की हमने ना तपकरा केवल एक नाम जाप करके जो न दे रखा है आपके पास यहाँ भी ऐसे 10-20 व्यक्ति आपको बता सकते हैं जिनके केवल नाम लेंदे उनका दुख दूर हो गया कष्ट शरीर का और नाम साधना करे ना कोई तप करे तो उस नाम ने क्यों ना जप लें जिससे सारी सिद्धि भी आ जा और मुक्ति भी हो जा तो ये सतगुरु महाराज का प्रमाण है एक सिद्धि जल डूब न जाई एक सिद्धि जल पैर न लाई एक सिद्धि तैसी तो हो जिसमें पानी में पादर दे और गारा ना लागे या पानी नहीं मनी बीजे डूब जागी पांच चला जाएगा उसके अंदर लेकिन उसके पां का नहीं लगती अरे सिद्धि ऐसी है कि जल के ऊपर कभी चला जा तो किसी संत में यह सिद्धि होगी कि जल के ऊपर का चला जाता था और फिर उल्टाया और दूसरा उसका साथी एक कबीरपंथी साधु का शिष्य हो गया था उसको ये जानकारी होगी जो कि हम दे रहे उसने नाम लेकर अपनी यह साधना की तो 12 साल के बाद मिलते दोनों पहले एक गुरु के चेले थे पर उसने गुरु बदल लिया पाछे तो गुरु को कति बदल लेना चाहिए जब जानकारी हो जाए इस बैम में ना रही हो कि गुरु बना लिया तो बना लिया ना एक वैद्य कदम नहीं काम चलता तो दूसरे की दवाई लेने में कोई आंट नहीं है तो वो सिद्ध बन रहा था ना जो तो उसने सिद्ध कर रहा था वह पा, पर पानी पर कन्या चला जाऊं जो तो धरती पर चल जा कर वो दूसरे ने बोला बोला भाई कि मैं साधना हुई तेरी अब साधक साधक से जरूर पूछा अगर रत्न के दिखा तो मतलब न्यो पूछा रहा सबसे पहला तेन तो बोला रखे में हुआ तेरा काम है तो कबीरपंथी साधु बन गया था वो बोला हाँ भाई बहुत काम चल गया अब कोई सिद्धि दिखावेगा अब के करांगे सिद्धि का भाई अरे वाह भाई वाह तू अच्छा आदमी सिद्धि का के करूंगा मैं दिखाऊ अब दिखा नहर का किनारा बैठे थे उस दरी नहर का माँ का दरिया माँ का और नोच लगा जो पानी पग जाकर और उल्टा फिर बोला देखा न बोला रबोड़े भगत बारह साल में और चार अन्ना का काम सीखा तले <laughs> दो अन्ना में पर ला ले जा किस्ती यार दो अन्ना में उल्टा ले आंदा बस तो चौधर पाई तो और फिर हम देख लें कि किसी के पां अगर ना लगती या पानी नहीं लगता वो विशद बंदी छोड़ी सब ने सुना कर फिर ने रिजेक्टेड ये गरीबदास जी बताऊं या इसे इन जमाए क्या है की जानकारी नहीं थी फिर आपको बताऊं गरीबदास माज के शक्ति थी कदे को सोचा कह कह रखी थी इसमें थी नहीं ये शक्ति इनमें ये शक्ति सारी थी जो केवल एक सिद्धि से ही अपने चौधर जमा कर चले जाए मुक्ति का साधन बंदी छोड़ नहीं बता दे चाहे सिर कड़वी लागो और चाहे सिर मीठी लागो ये हमारी तरफ से नहीं बंदी छोड़ की तरफ से एक सिद्धि जल डूब न जाई एक सिद्धि जल पैर न लाई एक दल में डूबे नहीं वह भी सिद्धि एक पानी एक पाग पानी नहीं लागे यह भी सिद्धि एक सिद्धि को चोले धार है एक सिद्धि नितत्व विचार है एक सिद्धि ऐसी है भाई मनु भी देखा था महात्मा रयू आड़ भी खड़ा पाया भाई बंदी छोड़ने का यू भी फंड से भाई यह भी कोई खास बात नहीं है फिर कहा एक सिद्धि पांचो तत्नीरम एक सिद्धि जो बद्र शरीरम एक सिद्धि जो तो पांचों ये शरीर जो है पानी में मिला दे या तो बहुत ही अरबों में एक के पास पाओगी जो पांचों तत्व कर ले केवल कबीर साहब ने ये पांचों तत्व ये उर्ला में नहीं है ये साधना क्योंकि गोरखनाथ जी आठ सिद्धि तक का जानने वाला था वो पांचों तत्नीर नहीं बना सका मछली बन गया था कबीर साहब ने उसको पकड़ लिया नीचे जाके और फिर गोरखनाथ जी ने कहा था कि आप मुझे अपनी सिद्धि दिखाइए मैं ढूंढूंगा कबीर साहब पांचों नीर हो गए थे पानी में पानी बन गए थे गोरखनाथ नहीं ढूंढ पाए क्योंकि उनको आठ सिद्धि का ज्ञान था ये चौबीस सिद्धि है बंदी छोड़ के पास और इनसे भी अनंत करोड़ सिद्धि बंदी छोड़कर वो हमारे दो रहे ये तो हम यहाँ लेकर आकर ताकि थारे कैसे दो बकवाद करे उसने अंग खसद अपना प्रयोग कर लेना हमने छेड़ा इन सिद्धियां एक सिद्धि पांचों तत्नीरम एक सिद्धि जो बद्र शरीरम एक सिद्धि पीव ना खाई एक सिद्धि जो गुप्त छपाई अंतर्ध्यान हो जाए अड़क जाता ना दिखा ये भी एक सिद्धि होती इससे भी मुक्ति नहीं समझना कि केवल यही साधनों से अगर उसके पास सत नाम पूरे गुरु के पास से ले रखा है और ये सिद्धि आप पा जाएंगे उसने कोशिश भी करने की आवश्यकता नहीं ना इनको न सोचा कि तेरे कहण तक फला और तेरे नाम लेने तक ठीक हो गए और इतने न्यू कर गए या चौधर जिस दिन मन में आ गई उस दिन भी नष्ट होना शुरू हो जाएगा अपनी कमाई खर्च तो होनी शुरू हो जाए सब कुछ जो चाहे बंदी छोड़ कर रहे हम कुछ नहीं कर रहे तो महाराज कहते हैं एक सिद्धि पी वह ना खाई एक सिद्धि जो गुप्त छपाही एक सिद्धि ब्रह्मंड चलावे एक सिद्धि सब नाद मिलावे इस प्रकार महाराज ने कहा कि एक सिद्धि ब्रह्मंड चलावे गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस सारी सृष्टि ने चला रहा है यानी इस ब्रह्मंड में कहते हैं एक सिद्धि एक सिद्धि ब्रह्मा को देनी आ, लोक रतन एक सिद्धि है लोक रतन यानी लोक रचने की एक सिद्धि है भाई पशु बना दिए गधे बना दिए सूअर बना दिए वह ब्रह्मा को दीन वह निरंजन ने ब्रह्मा ताई दे रखी है एक सिद्धि के तू लोक रचे जा लोक रचन एक सिद्धि है सो ब्रह्मा को दीन तो इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं चौबीसा को नाम चावे सो हंसा शब्द अतीत कहावे अब ये आपको वर्णन सुना सिद्धियों का और आपको जानकारी भी होती चली जाएगी एक बार एक सेठ दो भाई थे वह लाला जी और छोटे आला मर गया उसका दो बालक थे लाला जी छोटा मर गया शरीर त्याग गया बालक थे इसे को बारह साल का एक पंद्रह साल का तो उसकी माँ कहने लगी अपने बच्चा तक बेटा तुम अपने ताऊ जी तक जाके एक अर्ज करो प्रार्थना करो कि आपने आप हमारे को बच्चे कहते हैं बच्चों को कहा उसकी माँ ना कि अपने व्यापार में ही लड़ा लो मारा मात पिता पिताजी चले गए हमें कोई पता नहीं मारा गुजारा आपके सारे लाग का हो जाएगा और ये लाल ले जाओ तेरे पिताजी के धरे हुए दस पांच सात लाल से चार पांच और तेरे पिताजी ने कह ताऊ जी ने कह दियो पीछे दसे नहीं इन लाला काम चला ले अब वो लड़के खुश होकर और लपेट कर उनका अपने जोड़े गोज मंगाल के ले गए तो बोले ताऊ जी ऐसे ऐसे मेरी माँ ने कैसे अक मेरे पिताजी तो मर गए और हमने क्या का जान नहीं तो कृपा करके हमें शीरी कर लो अपने व्यापार में ओ बोला बेटा ठीक से और साथ में मेरी मान ने कहा देख पीछे तुम्हारा तो दो रसैनी ये लाल से जो मेरे पिताजी के धरे हुए थे मेरी मान काट के दिए अब उस सेठ ने वह देख के कपड़े में लाल उल्टे लपेट के दे दिए बेटा ये तो उल्टे धराओ गणी पूंजी के से और देखिए व्यापार में इन नहीं ले जगह जा करते हैं मेरी उधार चालस है वहां से आपको सारा सौदा दिवा लाऊंगा और यहां का आप फिर कर लेंगे वो उल्टे आ गया अब मेरे ताऊ ने ऐसे ऐसे कहा माँ इन चौकस कर ले जब हम वापस आवागे ना बड़ा सामान लेकर और ताऊ जी उधार चालस है और पैसे फिर ले जावांगे नर बोला ठीक से बेटा ले दू भी ठीक है चले गए उनको प्रदेश में ले गया विदेश में ले गया तो वहां दिखा करके उन दोनों बच्चों को साल भर रखा उनसे व्यापार करवाया उनको रुपया की पिछाण करवाई दमड़ी की बटकिया की सारी फिर कोबडी की लाल की लालड़ी की सब उनको जानकारी होगी एक बार उनको लालड़ी दे दी जो कि बहुत थोड़ी पूंजी की होती है लाल नौ अरब का है तो वह जो नौ सौ रुपए की होगी लालड़ी मुश्किल से तो वो देकर भेज दिया बेटा जा ये लाल से और फलाने बाणियन दिया लाला जी को और उसने कह दिए ये मेरे ताऊ जी ने भेजे जमा कर लो लाल और इनकी कीमत लिख कर भेज दी कितनी कीमत बताओ मेरे ताऊ जी अब उस लाला जी ने देखी तो दूसरे ने बोला उत का उत तो इधर लालडी से लालडी है धोखा देने खातर मैं पाऊ था ही नहीं न छह रुपये की ना बनती नौ करोड़ की चीज ने नो कह लालडी लाल से इवन देखा जो की तो उल्टा लिया बोला ताऊ जी तो बोला लालडी है ओहो रे बेटा तो धोखे दी गई मेरे भाई ले अरे ये तो नोंदरी थी दूसरे उसमें ले ये काट के ओ लिया काट के लह ले जा वो तकरीबन मिलती जुलती सी थी फिर उन लेके गया तो लाला जी देख देना बोला हाँ देख यह हुई ना बात लालडी ने लाल कह था ऊंच का नो बोला जी मेरा ताऊ ना धोखा लाग गया और गलती से दे दी गई ये तो दरी थी नारी अच्छा कोई बात ना मैं ईशान जानना ना सारी जानू वो लड़किया का जब यह ठोक लगी तो उन्हें करड़ी पिछाण कर ली कि फिर गलती ना खा इस प्रकार साल भर के बाद वो वापस वापस आवे तो वो पैसे मतलब बहुत गुना व्यापार सामान ले आए ले आए तो उसका ताऊ बोला उन बेटे बच्चा ने बेटा जाओ अपनी माँ पर वह लाल ले आओ अरे बापा जरूरत से पैसे की क्यों बहुत गुना खर्च हो गया अब उधार सुधार ज्यादा होगी चालांगे ना उनके दे दुआ देंगे वो दोनों लड़के घर गए बाजे गए माँ माँ आगे बेटा का आगे आगे के हम तो गणा सामान ले आए और मेरा ताऊ जी ने कही वो लाल दे दे वो किच से बोली ले बेटा ये थारी खातर से जो कहीं देर उन्हें काट का अपने संदूक तदूरी मात है और वो लाल तो पकड़ा दिए उन लड़कियां ने देखे कदे माँ भी गेल भी नहीं बन रही हो वो देखा साचे वो तो लालड़ी थी उड़े मारी बगा का जो कुर्बानियन बगाए थे उसने ने बोला लेरी से लाल लालड़ी लालड़ी भली रे के लाल डीर के लाल नो रे दो कोटी के कोनी लाला का गए अब तो बेचती करा हम ताऊ दो हमारी ये तो लालड़ी है अब जाकर वो बोले अकताऊ ताऊ जी अखा हाँ, हाँ भाई मेरी माँ दो रहता है वो लाल कोनी लालड़ी थी बात है तेन बोला बेटा ये उस दिन भी लालड़ी ये थी जब मैं इन लालड़ी बता दो त्री माँ का कद्दे भी पेटा नहीं भरा नो कहो मारे इनका बाबू मर गया हमारे तो लाल भी लालड़ी होगी तो आज तन्ने ज्ञान हो गया कि ये वह चीज नहीं थी जिसने तू मान्य बैठा था तो आज हम आपको ऐसा ज्ञान करवा देंगे कि जिसने आप लाल मान रहे थे परमात्मा मान रहे थे वो सब तय आपके लिए नकारा हो जाएंगे तो इस प्रकार जब हमने पूर्ण ज्ञान हो जाएगा किसने साधु अब साधुआ के बारे में आपको वर्णन देंगे वैद्य का ग्रंथ आपको सुनाएंगे सर्वप्रथम उसके बाद औरत करेंगे हम क्योंकि वैद्य के अंदर सत्यार प्रकाश को मिलाइयो फिर तुम बंदी छोड़ने किस ढंग से उनकी यथार्थता बताई उनकी उपलब्धि बताई और फिर उनको धिक्कारा करी तरिया छो माक क्यों अपने जन्म को सत्यानाश कर रहे हो ये इससे उपलब्धि आपको नहीं हो सकती और योगियों तक को भी महाराज ने फेल कर रखा है कि कहां तक जाओगे तो इस प्रकार आप ये मूल कमल चल रहा है मूल ज्ञान तो ये सारा वर्णन इन्होंने महाराज ने दिया कि भी कैसे कैसे वहां जाया जाता है इस विधि से फिर आगे चले अपने जो संत के ढंग से बता रहे हैं कि ये तो हुई थारे योगियों की विधि वे कहां तक पहुंचो फिर उन सिद्धि की लेकर के वहां पहुंचो फिर उसमें पहुंच जाओ है संसार काल में पहुंच के अपनी मुक्ति मानते हैं महाराज के नहीं शेषरार कमल में तो ब्रह्म लोक बताया है उसमें मारकंडे ऋषि वर्णन आपको विलास बोध का भी देंगे उसको जो गरीबदास जी ने प्रमाण दिया उसमें दाना दाना गिना है कि वहां उस निरंजन का लोक है वहां माता का लोक है वो ब्रह्मा का लोक है वो फलाने का लोक है वो इतना ऊंचा है वो इतना नीचा है उसकी इतनी शक्ति है और उसके बाद सतलोक बताया से जब इन्होंने ये सारे ज्ञान दिए तो वो कौन सा झूठ हो सके जो हमने ना बेरा अब अपना भेद बतावा है कियत योगिया का बताया काली ऊन काल का बाणा जठराग्नि जीता स्वर्गाना काली ऊन धोवे बिन पानी पेच खोल हो मानी वो पेच जो तीन लग रहे से और योग विधि क्रिया अनुमान पचास साल में जाकर वह खुल नागनी और फिर भीतर चाल अपना किधर थी पहुंचा जा वो भी पहुंचा जा कौन से कमल थे कौन से जन्म में वो पहुंचे से फिर न कहीं योगी उड़े तो अगला जन्म आगे शुरू हो जाएगा कित जागा तो अगले जन्म में वहां से शुरू हो भी जागा और जागा कहा फिर वो आखिर में सहसरार कमल में यानी पचास सौ जन्म में पहुंच भी गया कि तय तो सहसरार कमल सहसरार कमल में कुछ समय स्वर्ग और उसके बाद फिर अपना बुरे भी भोज भोगने अच्छे भी भोगने और फिर लक चौरासी का गेट अब सतगुरु महाराज कहते हैं इनको भी हम खोलते हैं कैसे कि पेचस खोल हो अमानी ये योगियों के बता रहे हैं अक्षुदा तरसा ताही ना व्यापे निंद्रा नींद काल नहीं जापे हृदय जप्पा जाप जगाव ऐसे शेष मुंडा अब कहते हैं कि ये तो वहां तक हुए कि इन साधनों से योग विधि से आपको नींद आनी बंद हो जाएगी थोड़ी थोड़ी जो है ना साधना बन जाएगी बैठन का अभ्यास हो जाएगा ये तो सतनाम का जाप करने के काबिल हुए अब कहते हैं अब हम बतावा से करो हृदय अजप्पा जाप जपावे जैसे शेष शेष फुन गावे अपने हृदय में यानी करुणा में करके करुण से करुणा से सांस के द्वारा जपा जाप जपा जो हम नाम देते हैं उस नाम का जाप हृदय में कर्राहट के साथ बजे जैसे शेष नाग अपने एक हजार फुड़ों से राम स्तुति करता है राम जपता है वो तीन लोग थे कि भगवान का ही जाप जपता है आगे कहा कि किलियम ओम हरियम सोहम गुज गायत्री से दिल धोहम ये जो हम पांच सात मंत्र आपको देते हैं ये आपके अंतकरण को साफ करने की और आपकी जो कमलों को साफ खोल देंगे ये इस काबिल कर देंगे कि तुम सब अजब पा जाप जप सको इस तो मुक्ति नहीं है संसारी कार्य सिद्ध होंगे वो भी पूरे गुरु लेकर अपने घर के लिए मोमकरण तक कोई सहारा नहीं लगेगा गुरु से लीजिए गुरु के गुरु की महिमा बताएंगे थोड़ी सी क्योंकि इतना लंबा विस्तार है कि एक महीने में भी पूरा नहीं हो सकता पर हम ऐसे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे वाणी कम लेते हैं विस्तार ज्यादा देते हैं तो ही तो ही रटना रट रसना ऐसे त्रिकुट में धसना एक तो योगी जा रहे हैं एक हमने बता रहे हैं कि आप इस इन जाप को मंत्रों का जाप करके और फिर अजप्पा जाप ऐसी कराहट के साथ जब जपिए जैसे ररंकार धुन लगे कई भाइयों कहे ररंकार जाप हो सजपन का तेरेगी ररंकार जो मर्दी हुई याद करा रहे परमात्मा ने इस ढंग से ईश्वर याद करा जा उस नाम लेकर के जब उसकी उपलब्धि होगी इस प्रकार महाराज कहें कि सतगुर ऐसा खेल दिखाया बिनकुर अंबर पाड़ी काया सुर, बान कमान चढ़ाही घुड़ला ज्ञान पीड़ कैलाल फिर हमने सुरत के साथ अपने ऊपर चढ़ाई शुरू की शब्द और सुरत को साथ लेकर के दसों दिशा कूद मैदाना चंद सूरज एक घर आना अगर मूल में फूल फुआरा जावा गंग सैंस मुखदारा पाबंदी छोड़ कहते हैं हम बीच में छोड़ रहे हैं वाणी को क्योंकि बहुत लंबा विस्तर बिल्कुल दाना दाना गिन रखा उन्होंने हमने इतनी आवश्यकता आपको बताने की नहीं क्योंकि हमने आपको मिस्त्री नहीं बनाना हम आपको केवल <clears throat> जैसे मोटरसाइकिल है ज्ञान है मिस्त्री को कौन सा प्रजा की तो जोड़ दे और उसमें खोल ले जोड़ दे चालू कर दे और एक वो भी उस मोटरसाइकिल का लाभ ले रहा चलाना सीख लिया तेल डालना सीख लिया खोलना सीख लिया और भाई चलाना सीख लिया उस मोटरसाइकिल का सही लाभ वो ले रहा है मिस्त्री इतना लाभ नहीं ले रहा उसका इसी प्रकार ज्ञानी ने पूरी लाभ नहीं मिलता जो कि करने वाले ने मिला हम आपको नाम दे करके इतना बता देंगे कि अड़े तेल खुल है इसकी इतनी की आवश्यकता अपना काम चलाओ बस तो यहां लिखा है लख योजन पर लख <clears throat> मकर है मुक्ति पंथ का कहूं संदेशा जाका ध्यान धरत हैं शेषा अगर डोर एक मार्ग जीना ता पर अक्षर धाम प्रवीणा अगर डोर का आपको रास्ता बताऊं कि उसके ऊपर अक्षर पुरस्कार स्थान है जैसे अभी बता दिखाया था ब्रह्म से ऊपर निरंजन से ऊपर अक्षर का धाम अगर डोर एक मार्ग जीना अगर डोर आगे को जो चलना है एक मार्ग जीना बहुत बारीक रास्ता है ये निरंजन के यहां से निकलकर अरुप्रक्षर की तरफ जा रहा है आपने देखा भी होगा ये ज्यादा चौड़ा बड़ा रखा है इसमें बिल्कुल बाल जैसा सुराख है अगर डोर है मार्ग झीना ता पर अक्षर धाम प्रवीणा मकर तार है मार्ग धीरा अदली पुरुष खवास कबीरा जहाँ घाट बाट नहीं अल, अलग अलहदा सूक्ष्म रूप शेष सिर लहदा गरीब लक्षो जन पर लख है लखियो जन पर लख सहस इक्कीस स्थल पूरी कोई न चढ़ता सह कह कैसे ऊपर इक्कीस हजार और स्थल पूरी है स्थान है स्थल कहो स्थान कहो धाम कहो स्थल बोहर स्थल का मतलब है स्थान धाम जैसे हम धाम छुड़ाणी यो अस्थल बोर और इसी प्रकार सतधाम सतलोक सतदीप ये एक ही के प्रायवाची शब्द है कोई ना चढ़ता शक शक कहे इंद्र भी नहीं जा सकता शक इंद्र को कहते हैं अब बताओ इतने गहरे ज्ञान को जो बंदी छोड़ने संस्कृत भी ले ली आपको संस्कृत भी इतनी शुद्ध दिखाओगे इसके अंदर बंदी छोड़ की वाणी में कि आदमी हैरान रह जाए योगी क्यों हमारे विद्वान भी बहुत से हमारे दादा गुरु जी जो हैं वो चार विषय के आचार्य थे काशी में पटकाए छावड़े के जात थे गोपालपुर में इनका आश्रम है अब भी और ये ये पूर्ण रूप से अब पहले थोड़ी सी विवरण इनका दू ये एक बार पाली जाया करते थे गांव में और घर के मतलब उसकी माता पिता मरे हुए थे भाई बड़ा था कई वर्ष से भाभी आ रही थी वह उसने दुखी रखा करती दुखी का तात्पर्य है कि वो काम कंधी होगी यो आकर जाता होगा जाता में इतनी दबाया करे तो वो उसने भाई और करड़ी हो जाती होगी एक आदि को भाई तो बता दिया होगा उसने मोगरे दर दिया होंगे वह और फिर करड़ी होगी होगी भाव ये से हमारा कहने का कि वो तंग था भाई बताऊं तो ये भाई पीटा इसने और ना बताऊं तो समय पर रोटनी तो सारे का फुंसी होगी और फिर क्या किया एक दिन पाड़ी खेत में मैं करावट थे हमारे जो इनके गुरु थे गंगेश्वरानंद हमारे गरीब सासी साधु वो जहा थे वो पानी पात पीण लागे कोई पे और ये भी बैठ गए पा पकड़ लिए न जाकर अग महाराज जी मैंने बाबा बना लो ने बोला रहा बाबा बनना इस आसान से इतना मिला मैंने ले चालो गेल गे ले जाएंगे थरे घर क्या लारा लाग जाएगा भाई हम मुकदमा सुलटांगे एक भाई तेरे मेरे बस का नहीं नो बोला जी मन ने कोई देख कर राजी नहीं घर में हकी बात इना रोन ला गया नो कह के अग देख मेरी क्या हालत हो रही दवाई दवाणिया नहीं मुझे तड़के काट दे दो मेसी रोटी देकर मेरी भाभी और भाई के कवा उसने पीटा दवा तो बगल मचा दे रोड़ा यानी कवा दमका दम दे पीटना तो के था तो आखिर मैंने बोला भाई दया आ गई गंगेश्वरान जी ने ने बोला बस साची कह साची कौन जी मन ने कोई नो पूछने तक नहीं आओगा मर गया जी वैसे बोला चाल बेटा फिर थे उड़े बगा के लाठी प्रचार दिया तो महाराज ने उसको वो दवाई दाना दे आनंद जी दवाई लाई और वो ठीक सा हुआ फिर ने बोला भाई तो अपनी पढ़ाई कर ले बारह तेरह साल दस बारह साल के थे काशी भेज दिया इतने प्रचंड दिमाग था इनके अंदर चार विषय के आचार्य हो गए आज इनको पंडित चिदानंद जी कहते हैं हमारे दादा गुरु को पंडित चिदानंद जी के नाम से जाना जाता है तो उन्होंने इस ग्रंथ का आश्रय लिया आखिर में कैसे लिया जब वो पूर्ण रूप से विद्वान होगा आगे तो गुरु जी ने बोले महाराज जी अपनी वो साधना बताने लागे विद्या कथन लागे गंगेश्वरानंद ने बोले भाई नितनेम कर ले बोले जी नितनेम के उस है अकले वह किताब काट के दे दी जिसे हम ये गुटका रखा और करिए देखे आड़त पढ़ लिए बेटा गरीब नमो नमो ये मंगलाचरण से और इन चल ठीक कर ले कि ये मंगलाचरण दे दिया उसको कि ये पढ़ यहां से गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान और फिर बिला देखे आगे ये लिख रहा क्या गुरुदेव का अंग ये पर पटन पर लोक है जहाँ अदले सतगुर सार भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार गिरी वैसा सतगुर हम मिला अलल पंख की जात काया माया ना वहां नहीं पढ़नी गात ये भाई दस पंद्रह पेज है यानी रोज पढ़ जाकर अब उन्हें देखा वो विद्वान तो संस्कृत के जाता और इसमें लिख रहा क्या पटन पटन <laughs> गरीब नमो नमो उन्होंने बोला जी या कोई विद्वानों की बात शासन थे आप जो कर बालक दो थोड़ा बहुत दिन बार होया नो कह के रखे अकेला गया घर आके बताना नो बोला या कोई साधुआ की विद्वानों की भाषा थोड़ी है अनपढ़ टोल कट्ठा हो रहा है नो मारी भुगा के या किताब है ये कोई बात हुई आप भी गुरु जी कति हुए अनपढ़ के अनपढ़ रह गए और मैं बताऊं आपने संस्कृत का डकुआ उड पोथा ठावे को नो बोला बेटा ये दो जोड़े हाथ <clears throat> तू इसने दर्दे सारे सौदे ने और देखे तो भारा बात हो जाएगी इतना ये बंदी छोड़ की वाणी ने तो तुम बिसरावा है ये परमात्माओं के परमात्मा है वो करडे से होंगे दिखे जब ने बोला छोड़ डन गुरु जी आपने नहीं बेरा पूरा आप तो वो एक वह रह गए हम पटका ना काशी जी बोला अच्छा भाई अगले दिन उसका कोड शुरू हो गया हमारे दादाजी गुरु जी आके कोड शुरू हो गया सारे शरीर पर पीठ चाल पड़ी और ये खुद मतलब दवाई के भी एक नंबर मतलब जानने वाले थे ये प्रसिद्ध हैं इसमें गोपालपुर में कि बहुत तगड़े वैद्य थे काश मतलब कलकत्ते तक के व्यक्ति आकर इन्हें ठीक किए बाद में तो इन्होंने उस समय भी इतने वैध हो चुके थे वहां से सीखी थी दवाइया सारी दवाई ला के देख ली कितना ठीक नहीं हुआ फिर और भी जहां भी इसने सुना वहां गए ये साल भर इतने कष्ट पा गए कि रात में नींद नहीं आओ किलकी मारने लागे आके न बोले गुरु जी मुझे क्योंकि इतना ज्ञान तो विद्वान के कि मैं भी हो भाई कर्म का भोग दस है न बोले गुरु जी मैंने कौन से कर्म का भोग आयो न बोले या भी मैं बताऊं तेरे तय अगजी फिर भी जानकारी तो दो अग इस परमात्मा की वाणी को न्यो कह दिया ये अनपढ़ की वाणी है अरे ये चार संस्कृत के श्लोक सीख कर तन्यो तो कह दिया ये विद्वानों की वाणी है ये भगवान की वाणी है इसके इसके पढ़ने से कष्ट करते हैं और शरीर के भी कष्ट जाते हैं वो करडे हो गए गुरु जी ने बोला जी के करूं अकिश गरीब नमो नमो ते तेरा बेड़ा पार होगा बीरा कैसे करूं कि टब में पानी घाल इकतालीस दिन उसमें सात बार मंगलाचरण बोल के और फिर उसमें ना उसने टब में पानी घाल के स्वच्छ जल सात बार मंगलाचरण बोला और उसमें स्नान किया एक हिस्से के हाथ के कोड कति साफ हो गए निशान नहीं रहा इकतालीसवें दिन केवल चालीसवें दिन एक टिकारी रहेगी इकतालीसवें दिन वो भी नहीं रहा उस दिन पाछा उसने बांध कर पोथे सारे ने बोला जी कित घेर का उन ना घेर का मता पर इस वाणी को सुलझा लेना इतना योग्य हो गया कि तू इसने खोल सकता है ना तेरे के सियाना था यह सौ सौ सपना में भी नहीं खोल सकती इस वाणी को उस दिन पातशाह ये ही महाराज ने ऐसी ऐसी वाणी इसमें खोल कर दिखाई हमारे को जो कि वहां बताते हैं तो बात यह है कि हमने बेरानी क्या को के समझ रखा है असली तत्व को भूल कर आम कहा उलझ कर बैठ जाते हैं इसके बारे में सतगुरु यहां बताया है भाई चतुर्भुजी है रूप हमारा अष्टभुजी अनभय पद सारा गरीब जैसे प्रधानमंत्री ने कह दे डीसी भी मैं सू भाई वो कह सके है और मुख्यमंत्री भी मैं हूं यानी वो शक्तियां मेरे अंदर विद्यमान है अष्टभुजी है रूप हमारा चतुर्भुजी है रूप हमारा अष्टभुजी अनभय पद सारा सहस भुजा सुर ज्ञानी गावे मूल ज्ञान कोई बिरलो पवे सहस भुजा यानी ब्रह्म तक का ज्ञान ज्ञानी विद्वान मुनि ऋषि ये जानते हैं पर मूल ज्ञान कोई बिरला पावे मूल ज्ञान यशली ज्ञान जड़ जैसा कि आपको हम जानकारी बंदी छोड़ अनुसार दे रहे हैं मुग्ध नरा के कह कहानी मूल ज्ञान की राह न जानी मूल ज्ञान की तो जानकारी भी नहीं हुई इनको सबको फिर मूड नरा कहा कि ये कहा ले जाएंगे इस जीव को असली वस्तु का ज्ञान मूल ज्ञान ऐसे गो रहा हूं सुरत कमल धर हड़प हदप उड़ाऊ एक तनिया कैसे ध्यान धरत है मुनिया अब सुनो इन इन तो ऊपर नो कहे किरा कितने सौ करोड़ लाखों चक्कर से और ऊपर ने एक दो को ना और हर एक इन उसमें जैसे भी कहते हैं ना अंदर नरी नाड़ियां हैं इसके बाद ऊपर जब चलेंगे तो नरे चक्कर से एक लोक में जाते हैं उसमें भी इन चक्कर उनमें भी नरे चक्कर से उनके हर एक इष्ट में जाने के लिए तो नो कहे कैसे ध्यान धरत वो मुनिया कौन से कौन से चक्कर का ध्यान धरेंगे तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि भाई जैसे समुद्र बहुत बड़ा होता है सौ सौ करोड़ संख कैसे धान धरते हैं मुनिया सौ सौ करोड़ पदम पर कासा अगम ध्यान का पावेरा सा एक एक ब्रह्मलोक की अंदर ऐसा वर्णन कर रखा है कि बहुत ज्यादा प्रकाश है और छोटे से प्रकाश को देखकर हम अपने आप को ब्रह्म प्राप्ति कर लेते हैं वो गलत है सौ सौ करोड़ शंख सुर भेरी अनबे मालन गांव चेरी सौ सौ करोड़ पखावज बाजे अदल निशाफ फजल घर साजे आपने यहाँ पर वेदों के अनुसार योगियों के अनुसार दस प्रकार की आवाजें सुनने के लिए सुना है कि दस प्रकार की आवाज होती बंदी छोड़ने को कहे अंदर तो जब सही गहराई में जाओगे तो असंख्य आवाजें हैं और उनमें तसली आवाज अपने इष्ट की ढूंढनी सौ सौ करोड़ मंजीरे मैली दुर की बात कहे कोई सैली सैली यानी वहां का घूमने वाला उसको जानने वाला कोई एक आदि परमात्मा का प्रेमी सतलोक का जानने वाला आपको आकर दुर की बात कहे सौ करोड़ मुरली मुख टेरा एक मुथुरा में आया चेरा कहते हैं सतलोक में बंदी छोड़ कबीर साहब की जो कृष्ण जिया ने यहां मुरली बजाई थी इसी करोड़ों मुरली एक बार में आवाज कर रही है उस लोक के अंदर यहां पे एक मुरली कहते हैं गौआ ने भी मोह लिया करती और श्राद्धा को भी मोह लिया करती औरों को भी मोह लिया करती कहते हैं वो ऐसे ऐसे कृष्ण के से वहां करोड़ों सौ करोड़ मुरली वाजन लाग रही बंदी छोड़ के लोक में राम कृष्ण सतगुरु सहजादे भक्त काजियों बहे प्यादे कि राम कृष्ण ये भी परमात्मा के अंश हैं और ये भक्ति खातर यहां आए थे आपको समझाने के लिए तो इस प्रकार हमने बंदी छोड़ के बारे में वैसे हम ज्यादा इसको पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा अब आपको एक थोड़ा सा पहले हम धर्मदास जी के बारे में जानकारी और दे दें धर्मदास जी एक बहुत बड़े सेठ भी थे और साथ में गीता के उपासक पाठक तगड़े थे और रामकृष्ण कृष्ण के और शंकर जी के उपासक थे तीनों देवताओं के बहुत तगड़े उनके गुरु जी का नाम पूर्व गुरु जी का नाम रूपदास था उनके गुरु जी ने बता दिया कि भाई धर्मदास कि हाँ महाराज आप गंगा स्नान क्या नाम अड़सठ तीर्थ स्नान करके आओ आपको मुक्ति हो जाएगी और गीता जी का पाठ करा राम कृष्ण और शंकर जिया का जाप करा कर और शालग राम शिवलिंग की पूजा करा कर जन्म कई कई दो दो तीन तीन और आपको स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी बोला अच्छा जी ठीक है अब जैसे गुरु कहे वैसे करें बेचारे भोले वाले जीवों का क्या गलती है वो अड़सठ तीर्थ करता हुआ वृंदावन में पहुंच गया वृंदावन में जाए पाछे फिर नो कैसे कि जब लगे वहां बरसाने में नहीं जा लेता इतना उसकी वृंदावन यात्रा सफल नहीं मानी जाती क्योंकि राधा जोश है वो बरसाने की थी और राधा के से ही परमात्मा कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है ऐसा माना तो मथुरापुरी में वो गया हुआ था वहां पर कबीर साहब भी पहुंच गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका एक खास शिष्य है जो पिछले जन्म जन्मों से लगा हुआ है परंतु रास्ता ठीक नहीं पकड़ रहा उसको सुलझाने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब वहां पहुंच गए तो जाकर धर्मदास जी तो बात करने लागे कि भाई भगत जी अखा जी मैं एक भोड़े से भगत का रूप बना लिया जैसे साधारण सा होया ना भोड़ा सा बने कर जाओ कि मैंने कोई रास्ता बता दे मैं सारा घूम लिया धर्मदास जी से पूछा कबीर साहब क्योंकि धर्मदास तीन तला रहा तिलक और इतनी मोटी गीता जी ले रहा साल्य ले रखी और बहुत सुंदर अपने कपड़े पहन रखे जो वैष्णु साधु कंठीर माला सारा सौदा उसने लगा रखे धर्मदास जी कबीर साहब कहने लगे भाई महाराज जी कहा भाई मैंने कोई रास्ता बता दो ताकि मेरा आत्म कल्याण हो जाए अब धर्मदास जी हो गया चौड़ा अब देख भोले बाड़े जीव भटक रहे समय इनको सही बता दूंगा ताकि भाई भगत जी बात सुन ले जिस तरह मैं बताऊं तो नो करके देख लिए और तना पूरी प्राप्ति हो जाएगी क्या की होगी कि आप स्वर्ग में चले जाओगे कबीर साहब बोले भाई ठीक है मैंने बता दो जैसे आप कहोगे मैं आपको गुरु धारण करूंगा कहने लगा अड़सठ तो तीर्थ करिए बिला अच्छा और और ग्राम राम कृष्ण का जाप जपिए अच्छा और भाई और बताऊं कि गीता जी का पाठ करा कर इन्हों बोला जी मैं पढ़ सू अच्छा तुम मेरी गेल रहेगा ना ना सारी सिखा दूंगा क्यों एक चेला भी चाहिए था उसने ने बोला जी ठीक है और फिर शिवलिंग की पूजा करा करिए और गैस का व्रत रखिए एकादशी का बोला अच्छा जी बाप का जो शिष्य बनूंगा तो सारे काम भी करूंगा फिर क्या हो जाएगा स्वर्ग मिलेगा मंदिर छोड़ दो बोले अक भाई एक बात बताओ देखो से प्रश्न उत्तर कर लू आपका हो तो खूब कर खूब कर भाई बिना करें क्यों करतरा पेटा भरेगा प्रश्न करे एक बात बताओ कि जैसे तीर्थ जल में हम तीर्थ नावा गेट सेट उसमें तो भाई कछुए भी रहे से छोटे छोटे जीव प्राणी भी रहते हैं मच्छ भी रहे और उन छोटी मछलियों को बड़ी मछली जब खा जाए उस तीर्थ जल के आलिया ने उनकी मुक्ति ना होंगी गिरा वो तो भक्षण होगी और जिसकी मुक्ति हो उसमें कुछ लक्षण होते हैं नहीं बोला तो, तो बहुत घनी बात जाने ना बात नहीं जानता है पूछू तो सू जब अन्य बोले तीर देखा मैंने फलाना नाम लिया कि उसमें गधे भी पानी नहीं पी सकते और उसमें बोले बड़े जीव कूद कूद का अपनी मुक्ति चांस तो फिर ने बोला भाई तो गीता जी पढ़ लिया कर गीता पढ़ लो मैं पढ़ सू मैं पढ़ा दूंगा अच्छा ले आप पढ़ा दियो तो के लिख रखा कि तम राम और कृष्ण का जाप कराया करें नो बोलिया देखो राम और कृष्ण त्रेता और द्वापर युग में हुए तो सतयुग में भगवान का नाम के था भाई वो तो पहला भी था मुहा रहे होंगे जीव तो उस समय भी थे उस समय के प्राणी उस ईश्वर का के नाम जपया करते अर्थात राम कृष्ण तो नहीं थे उस समय अर्थात यू राम और कृष्ण जपना उस ईश्वर का असली नाम नहीं है आदि नाम सतनाम कोई और है और वो जो शुरू आखिर तक वो ही रहेगा ये मेरा और से तो छह नाम धर लो आप मेरा असली नाम से उससे तो मैं पैसे बैंक तक कटवा सकू बाकी और दस्तक करण थोड़ा नहीं मिले और बोला हम भाई गैस के बर्ती रहा करें बंदी छोड़ने बोले गैस का व्रत करने से कोई भी व्रत आप कर लीजिए जैसे काल पड़ा था उस अकाल पड़ा तो सारे भूखे मर कमरे थे पशु भी पक्षी भी और मनुष्य भी राजाओं तक की द्रुप्ति हो गई थी इसका मतलब वो सारे वस्त्रोग में गए होंगे अब के मैं जवाब होता बोल रहा फिर उसने धर्मदास जी ने कहा था कि हमको जीव हिंसा नहीं करते नवलाप की जीव हिंसा गणा दो तन रात ने नींद नहीं आओगी बेटा अब क्यों करे कि तुम कहां से आए हो आप कि मैं बांधोगढ़ आया हूं कितने किलोमीटर है यहां से एक सैकड़ों मील है और कै दिन में पहुंचा पैदल आया सो पांच दिन में पांच दिन में जितने कदम तना धरे कितने जीव मार दिए यहां तक महाराज कह पृथ्वी ऊपर पग जो धार है और शंखों जीव एक पल में मार है ठीक है तीर्थ का फल मान लेते तने एक मिल जाएगा और आपकी गीता जी में श्रेष्ठ ज्ञान है कि जैसे कर्म जीव करेगा वही भोगना पड़ेगा तो ये माड़े भी भोगने और अच्छा तीर्थ का एक गोता और उस गोते में तन पाप गिनाऊ इतने बूंदे पानी में आप नहाओ और उसमें देखे जीव नु मसलो हो ना सत्य ब्राह्मण की है हत्या आ, हाँ, हत्या सेंस ब्राह्मण होई जल स्नान करत हो सोई ब्राह्मण की हत्या बहुत पाप मानते हो आप कहा जी तो एक हजार ब्राह्मण की हत्या है जब तुम उस स्नान करते हो तीर्थ के जल में इस तरह बंदी छोड़ कहने लगा जब उसका तो पसीने आने लगे तो तो आड़े अंडी पा कर था तेरा वर्गा को ज्ञानी है कौन पर ने बोला नहीं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है नो बोला और सुन ले क्या के <clears throat> फिर कहें कि जो तुम लिपो हो ना सुबह लीप के चौका तैयार करो सो भोजन बनाओ सो जितने क्षेत्र में आप लिपते इसमें सत्तर ब्राह्मण की हत्या हो जाए इतने जीव मारे जाते हैं सत्तर ब्राह्मण की है हत्या जो चौका तुम देते नत्या तो न्यू कह कह इब अपनी चौधर उकसली उसमें कदे तेरी बेजती हो जाने बोला छड़ छड़ इन बातों में के दे सा ये सारे शास्त्र झूठे शास्त्र दिखाऊंगा तने कि ये पाप होता है न्यू कह कह बोला आम नहीं सुना करते बंदी थोड़ा अंतर ध्यान हो जाए दिखते नहीं उसको वहीं से गुप्त हो जाते हैं अब मन में जरूर होगी वह थी तो तगड़ी चीज वेतन चाड़ा कर दिया भगवान से दीदी थी क्यों वनो भी देख ली गुप्त हो गए वहां से दिमाग चक्कर नौका नो काट रहा था विचार कर रहा था कि भाई बात तो कि मैं कति चुनने के सीट सी बदचे तो हैं पर चाड़ा हो गया गुरु पहले बना रहा कदे बेजती हो जाए नौका गुरु छोड़ दिया कई समस्या आ रहा है इसका जो ज्ञान हो पात भी एक भगत मना ऐसा दो तीन मिल लिए नो बोला जी मैं नाम ले रहा हूं फलाने पंथ से नाम तक हम नहीं लेंगे और आपकी बात सो की सो सक वहां कति झूठ दौड़ी अपने पंथ में कैसे पर मेरे लिए समस्या क्या होगी कि ओ सबत गांव मने उस पंथ में ला रखा और जब मैं इवनो कहूंगा ने यू गलत से मेरे सर पर बाल नहीं पाओगे <laughs> बोला इसी हालत कर देंगे मेरी वह जो कि कितने भी गा के तो बोला मेरी मजबूरी है गदा बनू चाहे कुत्ता पर मैं इसमें नहीं छोड़ सकता वहां जा फिर बताइए भाई क्या जरूरी है तो ये कई ढाल मतलब खाई कूदनी पड़ेंगे हमने जब इस सही रास्ते पर लागेंगे <clears throat> तो वो विचार करता हुआ रोटी बनाने लग गया धर्मदास जी भोजन तैयार किया इसी मोटी लकड़ी लाई और भी छोटी लकड़ियां उसके अंदर जलाई तो धीरे धीरे वो लकड़ी जलती जलती जलती जलती खाना तैयार हुआ जब चूल्हे का नजदीक आ गई एक बिलांत की रह गई तो उसकी नजर पड़ी कि थोथी थी लकड़ी उसमत नरी कीड़ी लकड़न मुंह मंडे ले रही उस वह लकड़ी थी को कम से कम चार फुट तीन फुट की और वह अद्वेक बिलांत की रह दी उसने देखा रो इतनी कीड़ी फूक दिया तो आपने मैंने इतनी कीड़ी फूक दी इसमें और इस भोजन में खाऊंगा तो नरक का बागी होगा उस सारे भोजन ने डक के एक थाल में ने बोला किसी महात्मा ने सोचा विचार में कि हमके किसी महात्मा ने खुआ दो बंदी छोड़ तो ने इंतजार करे थे अरनो बैठे मुंह फेरे अब जाके महाराज जो है कबीर साहब जी उठाड़ ने ले जान लाग रहे हैं बंदी छोड़ देख गए वो तो पाछे के भी देखे थे वो तो में थे तो जब धर्मदास नजदीक सी जा लिया तो बंदी छोड़ने अपने आप में कुछ ऐसी बाणी बोलनी शुरू की के जिस प्रकार भाई साधु कई बार आप पाप बोलिया करे ना तो हमने सोचा करा अक भाई आज जो साधु बात कह रहा है कोई खास पाओगी दान के सुन ले तो वो पाछियन खड़ा हो जा पहला तो प्राचीन खड़ा होता महाराज जी अपने आप को समझा रहे हैं कि भाई अरे मन तो मन देखित ले आया राम उड़क नो लेकर चला था अब चाल उड़ा वृंदावन में चाल कदे कह तो कि भाई तीर्थ पर चाल कदे कह न्यू मत गीता पूज ले कदे कह पत्थर पर पानी चढ़ा दे जी देख तेरा तेरी मान कर मैं यहाँ आ गया अब नो बता अगर गंगा इसमें तीर्थ माम ना भी लेंगे तो क्या उपलब्धि होगी एक फल मिला दे कितने जीव मारे हम यहां तक अरे पापी भाई ईब कत आ गया पर ईब कोई पाछे नहीं आऊंगा मैं तो इसे इसे महाराज का एक शब्द है अभी मिल गया ढूंढ रहा हूं तो उसने कहा उस शब्द नहीं मिल रहा फ्रेंड उसका अर्थ ये दोनों शब्दों का कि वो महाराज अपने आप को न्यू कह रहे थे कि भाई इन तीर्थ में कुछ नहीं दिरा बीरा अपना असली परमात्मा सतपुरुष है ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीन लोग के परमात्मा इन तो ऊपर ब्रह्म है ब्रह्म तो ऊपर पार ब्रह्म है पार ब्रह्म तो ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म है आप आता उसका जाप कराए बीरा आज तक तो पाछा पाती तीर्थ पान देखो नहीं अब वो पाछा खड़ा खड़ा सो रहा है अख भाई ब्रह्म तो ऊपर पर ब्रह्म भी पढ़ तो हमने भी राख्या है पर नो किशन बताया तो कोने तो ऊपर भी कोई और शक्ति है और पर ब्रह्म तो ऊपर भी बताओ पूर्ण ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु में इसको तो नो कहे तो बहुत छोटी इकाई तीन लोग के भगवान भाई और फिर नो का अमीन अनंत कोट ब्रह्मंड के परमात्मा रहे भैया दोनों बात नहीं हो सकती इसे इसे बेचार धर्मदास और उल्टा सोए पचास कदम उल्टा जाकर फिर खखार ऐसे नो सोच तो इन्हें सुना देखा है कौन महाराज जी सत साहेब राम राम न बोला बंदी छोड़नो देखा कहा आजा भाई कौन सा बच्चा और रू बना लिया बंदी छोड़ने जब न बोला महाराज जी कहा भाई ये भोजन पा लो अकले भगत जी मन तो भूख लाग रही थी महाराज ने रोटी उसने धर्मदास ने सतगुरु महाराज का आगे वो थाल धर दिया रोटियां का और उस पर कपड़ा हटा दिया और पानी का गिलास या लोटा साथ था सतगुरु महाराज ने पानी का जल लेकर के जल से थोड़ा सा पानी जल लोटे से लेकर और रोटियां के ऊपर छिड़क दिया कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए एक सेकंड के बाद सारी वो उस भात का कीड़ी बन जा से काली थाली होगी और कीड़ी जो हंडे मुंह में लेकर बाहर निकल रही है और कति वह रोटी राटी नहीं रही उसमें सारी कीड़ी कीड़ी बन गई बंदी छोड़ने बोले रहा पापी इसे गुंडे कुकर्म के भोजन ने मेरे तो अब धर्मदास का तो दौड़ा हो गया अगिया के बनी बंदी छोड़ फिर उसी रूप में आगे जिस रूप में धर्मदास की उसकी वार्ता हुई थी न्यो कहता बेटा मैं कोई जीवन सा ना करता ये इसे इसे तो कई बार कर चुका यह तो लीला दिखाई तेरे को धर्मदास ने तो पांव पकड़ दिए ने बोले बंदी छोड़ हे परमात्मा हे जिंदा मेरी चौंद और खोल दो पूछ इतना प्रश्न कर रखा है धर्मदास ने कि ये कबीर सागर धर्मदास पूछा है और बंदी छोड़ बतावे ये कबीर सागर सारा धर्मदास कोई बात बस बस रण आ रहे हैं हाँ बस इतना कबीर सागर नजर आ गया ये कबीर सागर है बंदी छोड़ का ए, इतना मोटा और इसमें वो नारे रह गए एक दो ग्रंथ और से तो ये कबीर धर्मदास पूछा है कबीर साहब बतावे हैं तो कहने लगा फिर ने बोला महाराज जी हमने तो स्वर्ग ताई का बेरा है बोला स्वर्ग तो महाप्रलय में नष्ट हो जाएंगे यो भी ज्ञान से जी क्योंकि पृथ्वी तल को तत् को जल तत् ग्रासेगा जल तत् को अग्नि अग्नि तत् को पवन पवन को आकाश ग्रास लेगा अग्नि और आकाश पवन को आकाश आकाश को निरंजन यहां तक सुना बोला निरंजन को अवगत गिरा सेगा तुम नागे का ना बिरा बिरा यही तक की जान से कि ओम अपने अंदर संभाले है ओंकार ओंकार ने अवगत अक्षर पुरुष ग्रास लेगा अड़क कुछ नहीं रहेगा जब थारा स्वर्ग नहीं रहेगा तो तुम कहां रहोगे 21 ब्रह्मंड तक का राज जो है ना काल का चौदह भवन सात दीप नोखंड ये काल की जेल से भाई अब उनकी आपको एक शब्द सुनाते हैं धर्मदास और कबीर साहब की वार्ता का धर्मदास जी प्रसन्न करते कबीर साहब जाकर ने बोले हे महात्मा उस तुच्छ जीव को मेरे जैसे को धर्मदास को और जाकर के एक परमात्मा ने कहे हे हे साधु हे ऋषि हे महाराज मैं अनजान व्यक्ति हूं वो परमात्मा कहता है और मन ज्ञान सुना दे कुछ रास्ता बता दे ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना दे हो मेरा कल्याण धर्मदास जब न्यो बोला अड़सठ तीर्थ नाऊंगा धर्मदास जब न्यो बोला अड़सठ तीर्थ गीता जी का पाठ करत हूँ इस विद मुक्ति पाऊंगा गीता जी का पाठ करत हूँ मुक्ति पा राम कृष्ण के गुण गाऊंगा मिल सौर गुम स्थान भगत मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना दे दी बता दे हो मेरा कल्याण भगत मैं ज्ञान सुना देव जी बता दे हो मेरा कल्याण भगत अब बंदी छोड़ कहने लागे कि भाई अड़सठ तीर्थ ना आवेगा तो अड़सठ तीर्थ मतलब बीरा बहुत गुणे जीव रहे तीरथ जल में कछ और मच्छा जीव बहुत से रहते हैं तीरथ जल में कछ और मच्छा जीव बहुत से उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते सतयुग में राम कृष्ण नाचित धरते किसका ध्यान भगत में अर्ज करूं ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत ज्ञान सुना देव विधि बता दे हो मेरा कल्याण जब नहीं बसाई अगली फिर तरकीब बताई एकादशी का व्रत करत हूँ जीव हिंसा को करता ना एकादशी का व्रत कर जीव हिंसा को करता ना शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी ना शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी शाल राम की पूजा कर तम जन्म सुबह और शाम भगत में अर्ज करो ज्ञान सुना देव देव भगत में अर्ज करूं ज्ञान सुना देव देव कल्याण भगत अब सतगुरु महाराज ने बोले बरत करे तय मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते बरत करे तय मुक्ति तो अकाल पड़े क्यों मरते शिवलिंग पूजा सालिंग सेवा अनजाने में करते हैं शिवलिंग जा सालग सेवा अणजाने कर चेतन हो कर भूल रहे होए पत्थर से नफ राम भगत मैं अर्ज कर ज्ञान सुना देव दी बता दे हो मेरा कल्याण भगत ज्ञान सुना देव जी बता दे हो मेरा कल्याण भगवान तीर्थ बाट चल जो प्राणी जीव बहुत से मार तीर्थ बाट चल जो जीव बहुत से जन्म सूक्ष्म जीव बहुत हैं स्नान करत श्रृंगार जल में सूक्ष्म जीव बहुत स्नान करत श्रृंगार भाई सो काली पो अवन करो उसमें हो हिंसा बे अनुमान भगत में अर्ज करो ज्ञान सुना देव दी बता दे हो मेरा कल्याण भगत में ज्ञान सुना देव दी बता दे हो मेरा कल्याण अब बंदी छोड़ न्यू बोले रे रोज हवन करे से रोज करूं सो हवन का फल मिलेगा बेटा वह जीव फूक उनका भी मिलेगा यानी दोनों पाप और पुण्य दोनों भोग्य सरस तीन लोग की व्यवस्था में अब के बोला फिर ने बोला जी ठीक फिर महाराज आप बताओ अमनत इतना है बेरा था नो बोला सा बंदी छोड़ के सात दीप और नौवो खंडियो सपने जैसा खेल है सात दीप और नौ सपने जैसा खेल तीन लोक और भवन चतुर्दश काल बलि की जेल है कृष्ण लोक और भवन चतुर काल बलि कीजे माँ पर ले मैं नष्ट हो जाऊं फिर कहाँ करो व्यस राम भगत मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना देव देवता दे हो मेरा कल्याण भगत मैं ज्ञान सुना देव जी बता दे हो मेरा कल्याण भगत ये सारा बता के कि ये काल की जेल है स्वर्ग भी और महास्वर्ग भी से कुछ भी समझे किस ब्रह्मण तक काल है भाई एक तेरी सलाह फिर शास्त्र बताओ ये नष्ट होंगे या तो फिर शास्त्र क्योंकि वो शास्त्र उपासक था तो शास्त्र ले लिए कि शास्त्रों में लिखा ये नष्ट होंगे कहा जी होंगे योगी पूर्ण 105 साल के महात्मा स्वामी रामानंद जीओ को भी पांच साल के बच्चे कबीर साहब ने अपनी विधि बताई और तो अखंड ब्रह्मचारी था और चारों वेदों का ज्ञाता था अठारह पुराण कंठस्थ याद थे ग्यारह उपनिष्ठ जाने था नो बोला जी नो कामना चाल और उसने माननी पड़ी आखिर में और कबीर साहब अनुसार साधना शुरू कर दी तो यहां इतनी कहकर बंदी छोड़ अंतर ध्यान हो जाते हैं अब भाई आगे तो भगवान चला गया अब के बने सब जीव के संग अब आपको थोड़ी महाराज की वाणी भी सुनाते हैं ताकि दोनों रस मिल जाए अब वहां से वो अब गरीबदास जी की बाणी सुनाते पारख के पारख के अंग से अब वो सोच रहा था कि यहां मथुरा से उसमें जाऊंगा वृंदावन से मैं जाऊंगा मथुरा मथुरा से मैं जाऊंगा वहां पर बरसाने में क्यों बरसाने में के कैसे तो वहां की थी या राधा तो वहां के लोग भगत आत्मा कृष्ण का नाम नहीं ना राम कहते हम तो कहेंगे जैसे राम राम भाई राम राम जैसे हम उपदेशी के सत्साहेब वह राम राम नहीं कंदे और ना कृष्ण कंदे वो के कव है राधे राधे जैसे सुबह उठ कर घूम जाएंगे ना एक कहेगा चाचा राधे राधे वो कहेगा बेटा राधे राधे आगे मिलेंगे राधे ओका राधे राधे राम राम राम राम राधे राधे और फिर जब गीत गाओगे जब तो उन्होंने कहे राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे ये उनकी स्तुति है तो बंदी छोड़ने बोले उड़ा कृष्ण भी छोड़ा राधे का पुछड़ पकड़ लिया अकिया राधे मिला देगी जब उसने मुस्किला की तो दर्शन होया कर दे मर पिट कर रो पीट कर बेचारी ने और वो भी आकार रूप में हरीब तम राधे के पूछड़ महाराज के हैं कबीर इस संसार में समझाऊ कह बार और पूछ पकड़ बेट गिर उतरा चाव पाए <laughs> बंदी छोड़ने गए मैं योग करके जाऊंगा मैं तप कर लूंगा नो कह ये तो पूछड़ बेड की से ये तुमने बहुत सागर का पार नहीं कर सकती अब क्या कहते हैं बंदी छोड़ गरीब दासियों की वाणी देख कितनी मार्मिक है बोले जंद सुनो धर्मदासा अमर पिंड प्राण नहीं श्वासा अब नो बोला धर्मदास पहले महाराज से जो वार्ता कर रहा था ना नो बोला जी आपको मैं भगवान और आपका शरीर दिखा है तो बंदी छोड़ने बोले बोले जंद सुनो धर्मदासा अमर पिंड पुराण नहीं श्वासा द्रवियोनी में अमनी आए मद्र पे